रामचंद्र की है हनुमान की है भाई की दुआ संख्या इकतीस के बाद इकतीस सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना हरि आए जल राजीव नयना बचन काय मन मम गति जागी तपन बूझिए विपत हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो एक बात प्रभु जातु धान की त्रिभुवन जीत ज्ञान भी जानकी सुन कपि तो समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी प्रत्युपकार करूँ का तोरा सनमुख हुई न सकत मन मोरा सुन सुख कोई उर्न मैं नानी देखूं कर विचार मन माही सुन पुन कपिंच सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता सुन प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरस हनुमंत चरण पयो प्रेमा कुल प्रायुताहि भगवं करें ये किष्किा के निकट प्रवर्षण पर्वत है वहाँ पर हनुमान सहित सब बानर सुग्रीवादी भगवान श्री राम जी के पास पहुँच गए और सीता जी की खोज उनको सबको सुना दी भगवान को भगवान ने फिर पूछा कि सीता जी वहाँ ऐसे संकट में कैसे रहती हैं तब हनुमान जी ने बता दिया कि सदा आपका स्मरण करती रहती हैं आपका ध्यान करती रहती हैं नाम जपती रहती हैं उनकी दृष्टि सदा अपने पैरों की ओर ही रहती है इस प्रकार से उनका समय व्यतीत हो रहा है और उन्होंने ये संदेश दिया है वो भी सब उन्होंने सुना दिया हनुमान जी ने और ये भी कहा कि सीता जी भी समय बहुत कष्ट में है हमको जल्दी चल करके साचरों को मार करके उनको वहां मुक्त करना चाहिए <clears throat> तो सीता जी का दुख जब भगवान राम ने सुना तब कहते हैं कि सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना जब सीता जी के दुख को भगवान राम ने सुना तो हरि आए जल राज्य नैना तो उनके कमल जैसे नेत्रों ने जल भराया मैंने मतलब वो भी दुखी <clears throat> अब ये शंकाएं जो पार्वती जी को पहले हो गई थी सती शरीर में उनका समाधान करते रहते हैं शंकर जी इस प्रकार की कथा सुनाते हैं कि वो शंका जो उनको पहले थी कि भगवान तो परम परमात्मा है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है और आनंद सिंधु है भला उनको सीता जी के वियोग में दुख कैसे हो सकता है तो वो बार बार बताते रहते हैं जहाँ जहाँ प्रसंग आता रहता है बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उनका संदेह दूर हो जाए यहाँ भी देखो उसी प्रकार से बोलते हैं शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी से और उनसे बोलते हैं कि देखो विष्णु सीता दुख सीता जी का दुख सुन करके भरी आए जल राजे नैना भगवान के कमल जैसे नेत्रों में जल भरे आए दुखी हुए लेकिन दूसरी बात ये भी कि प्रभ सुख है ना लेकिन भगवान श्री राम जी तो स्वयं सुख अयन है मान सुख के समुद्र है आनंद सिंधु है तब ये सब तो लोग भगवान आनंद सिंधु है तो उनको दुख कैसे हो गया तो दुख होना तो उनकी नरलीला है और दूसरी बात ये है कि वो जहाँ अपने भक्त उनके हैं भगवान के अगर उनको दुख होता है तो उनके दुख से उनके मन में करुणा उत्पन्न होती है यहाँ दुख के मन करुणा भगवान के नेत्रों में जल आ गया तो करुणा उत्पन्न हुई उनको अपने दुख से कोई दुख नहीं अपने आप से स्वयं आनंद मिल उनको कोई अपना कोई दुख है ही नहीं लेकिन अगर उनको दुख होता है तो करुणा कहलाती है और करुणा कब होती है जब दूसरे को दुखी देखते हैं तब और उसका दुख दूर करने के लिए मन में <clears throat> इच्छा उत्पन्न होती है प्रयास करता है व्यक्ति तब ऐसी दशा करुणा कहलाती है करुणा में भी दुख जैसा ही लगता है उसमें भी आंसू आ जाते हैं वो भी घटना भी इसी प्रकार बढ़ती है तो दुख का कारण एक तो व्यक्ति स्वयं है और एक दूसरे का दुख है उसका दुख है उसके दुख से दुखी है तो जैसे अंग्रेजी में सिंपैथी कहते हैं तो ऐसी सिंपैथेटिक फीलिंग में जब जिस प्रकार का दुख होता है तो उस प्रकार का दुख है ये कोई अपने आप का कोई भगवान को कोई सीता जी के जाने से हरण होने से अपने आप से अपना दुख कोई नहीं अपना कोई कमी आ गई हो कोई अभाव हो गया हो <clears throat> कोई उनके उनके अपने अंदर में किसी प्रकार का <clears throat> उनकी इच्छा की कामना के विरुद्ध कोई बात हुई हो सब कुछ नहीं हो वो सब तो भगवान लीला इसी प्रकार की कर ही रहे थे <coughs> वो चाहते ही थे किस प्रकार से सीता जी का हरण हो रावण ले जाए तो रावण को मारा जाए तो वो तो विधानी पहले ही बनाया हुआ था सीता जी को पहले अग्नि में प्रवेश कर दिया था ये नकली सीता बना करके रखी हुई थी तो ये सब तो भगवान ने पहले इस प्रकार रखा था जिसे कारण सीता हरण हो तो फिर जो जिसने कि चाहता था कि हरण हो तो वो तो क्यों दुखी होगा वो तो देखो जो योजना हमने बनाई थी बिल्कुल पक्की पूरी निकली वैसी हो गया भला रावण अच्छा, अच्छा हुआ रावण ले गया सीता को अब हम चलेंगे अब उसको बारे में चल करके तो ये तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कोई दुखी की बात नहीं है लेकिन फिर भी अन्य नर लीला को दिखाते हुए अन्य लोगों के लिए अब अगर हनुमान जी जैसे सुग्रीव जी के सामने हनुमान जी अगर वहां से दुखी दुखी ना आते हाँ, आंसू बहाते हुए सीता जी के लिए ना आते तो सुग्रीव कहता आपको कोई दुख है नहीं सीता देवी गई तो आपको प्रसन्नता ही है तो फिर क्या जरूरी है सीता जी पुष्टि करें क्यों मानव सेना ले जाओ क्यों लोग जाकर के रावण से तो वो सब होते ही नहीं इसलिए जो है भगवान सबको इन सब लोगों को अपनी लीला में सम्मिलित करने के लिए और सेना को इकट्ठा करके राक्षसों से लड़ने के लिए ले जाने के लिए <coughs> दुखी होने की लीला करते हैं तो ये शंकर जी बताते रहते हैं देखो दोनों बातें भगवान श्री राम जी सुख आयन है आनंद सिंह है और दूसरे सीता जी के दुख से दुखी भी है अरे आये जल राज्य न इस प्रकार के प्रसंग है शब्द योजना से ही देख लो कि क्या शंका का समाधान किस प्रकार से करते हैं कैसे बोल दिया कथा भी चलती जाती है समाधान भी होता जाता है साथ साथ और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि वचन है मन मम गति का ही कि जो मन वाणी और कर्म से मेरे, मेरे प्रति ही समर्पित है मेरी भी गति उसको है कि मैंने मुझको समर्पित है वो सपने ऊंची विपत्ति की ताही उसको सपने में भी कभी विपत्ति कहा हो सकती है मन सीता जी के लिए कोई विपत्ति की बात नहीं है वो उनको यदि हमारा स्मरण है हमारा ही ध्यान करती रहती है हमारा ही नाम जपती रहती है तो फिर तो उनको विपत्ति नहीं आ सकती ये बात निश्चित है हनुमान जी ने जैसे कहा कि वो तो इस प्रकार से ये सब करती रहती है प्राण उनके नहीं जाते ये सब ध्यान करती रहती हैं नाम जपती रहती हैं तो इस प्रकार से सुरक्षित है प्राण नहीं जाते भगवान कहते हैं उनको विपत्ति नहीं हो सकती प्राण जाने की तो बात ही क्या किसी प्रकार की उनकी कोई विपत्ति नहीं बस यही है कि उनको जो है वह <clears throat> वहां से छुड़ाना है लाना है राम की चंगुल से तो हनुमान कहते हैं विपत्ति कब होती है कहते क्या हनुमान तो विपत्ति प्रवेश हुई ही अभी देखो सब भक्ति के प्रसंग है इन्हें व्यवहारिक जीवन के साथ में इनको सबको अध्यात्म को देखें तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करें तो ये सब बात स्पष्ट होती है हनुमान जी कहते हैं क्या हनुमान विपत्ति प्रवेश हुई हनुमान जी कहने लगे कि हे भगवान विपत्ति तो व्यक्ति को तब होती है कि जब तब स्मरण भजन न हो जब आपको भूल जाता है जो जीव प्राणी आपको भूल जाएगा आपका स्मरण नहीं करेगा ध्यान नहीं करेगा नाम नहीं लेगा संसार में फंस जाएगा विश्व में फंस जाएगा उसी को विपत्ति घेरेगी बस नहीं तो विपत्ति आने की बात ही नहीं बस विपत्ति का राहत इतना ही है संसार में कष्ट आते हैं परेशानियां होती हैं दुख होती है क्यों क्यों व्यक्ति भगवान को भूल करके संसार के चक्कर में माया जाल में पड़ गया समझ रहा है कि विषय सत्य है संसार सत्य है शरीर सत्य है परिवार सत्य है धन संपत्ति सत्य है ये सुख देने वाले हैं ये नित्य है क्या ये धारणा व्यक्ति की आई जहाँ भगवान को भूला और जहाँ भगवान को भूला हाँ ये तो सब जितने भी साधन भौतिक साधन है ये दिखाई देते हैं सुख देने वाले लेकिन तमाम संकट विपत्तियां परेशानियां सब उत्पन्न करने लगती लेकिन जहाँ व्यक्ति जो वो परमात्मा का स्मरण किया समर्पित परमात्मा में है परमात्मा ही सत्य बाकी तो सब सपन के समान समस्त जगत है ये अगर ध्यान में रखता है व्यक्ति तो इस अपने जैसे संसार में वो रहता भी है तो भी उसे कोई विपत्ति नहीं विपत्तियां होने पर भी उसे कोई विपत्ति नहीं लगती अन्य लोगों के लिए छोटी छोटी विपत्ति की बातें हैं वो बहुत भयंकर लगती हैं दुखी हो जाते हैं ऐसा आध्यात्मिक पुरुष भगवान का भक्त ज्ञानी व्यक्ति को वो विपत्तियां कोई माने नहीं रखती उनसे वो विचलित नहीं होता रहती है रहने ऐसे करके वो जो वो हो अपने मन को शांत बनाए रखता है परमात्मा में इसलिए कहते हैं कौन हनुमंत विपति प्रभु सोई कि जब तब सुमरन भजन न होई यानी भगवान का सदा स्मरण भगवान का भजन रहना चाहिए सदा उन्हीं का स्मरण करते रहे उन्हीं को समर्पित रहे उन्हीं में समर्पित रहते हुए जीवन जिए भौतिक जीवन जीने है भौतिक कार्य भी करने हैं शरीर को भी चलाना है व्यवहार भी चलाना है तो ये सब जैसे भगवान चलाते हैं इसी प्रकार से व्यक्ति को भी वैसे चलाते रहना चाहिए लेकिन समझना चाहिए आत्मा ही परमात्मा है वही ब्रह्म है वही सत्य है वही अपना स्वरूप है और ये तो कुछ दिनों के लिए ये सब जगत प्राप्त हो गया है शरीर प्राप्त हो गया है तो ये सब दिखाई दे रहा है सदा रहने वाला इस प्रकार का नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवान ने अपने चित्र को लगाए रहे हनुमान जी कहते हैं कहते जो बात प्रभु जातुधान की जातुधान के शास्त्रों की जो बात है क्या ये पंद्रह वाले शक्तिशाली है उनको कितनी बात है त्रिपुरी जीते जाने की अब इनको सबको मार करके इनको इनके ऊपर विजय प्राप्त करके निशाचनों पर हमारी पर और अपने सीता जी को ले आएंगे चल करके जो तो हनुमान जी इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि हम जा करके लंका में सब देख आए कि कैसा रावण शक्तिशाली है और कैसे निशाचर शक्तिशाली इतने इतने निशाचर आए अकेले हनुमान जी ने सबको लड़े मार गिराया मार दिया अरे ये तो कहो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया तो कर लिया और बन गए तो बन गए वो भी उन अपनी इच्छा से बन गए नहीं तो वो मेघनाथ भी इनका कुछ नहीं कर सकता था और रावण ने भी देखो उनके समझी कि इनकी पूछड़ी जला दी जाएगी तो पूछ जलाने के बदले में उन्होंने सारी लंकी जला दी तो रावण कुछ नहीं कर पाया जिस समय हनुमान जी एक एक छत से दूसरी छत के ऊपर कूदते हुए सब लंका जला के घूम रहे थे न रावण का कोई बस चला न रावण की सेना का कोई बस चला के उनको पकड़ लेता फिर और जलती हुई लंका को बचा लेता तो हनुमान जी तो पूरा जान गए कितनी ताकत है वो तो जैसे पहले ही हनुमान जी ने कहा था लंका समुद्र पार करते हुए लंका जाते समय मान से कहो तो हम त्रिकूट पर्वत सहित सीता जी को उठा रहा हूँ राम राम को मार मूल ये कर सकते इतना बल उनमें लेकिन वो तो कहो लाए नहीं उनको मना कर दिया जामान ने इसलिए हनुमान जी ने ये कार्य नहीं किया लेकिन ये हनुमान जी उसी बल के कारण से कहते हैं अरे ये निशाचर विशाचर क्या है कुछ है इनसे क्या होता है इनको जीत करके लाना कौन मुश्किल है सीता जी का उला भगवान राम ने अपने आंखों में आंसू भर लिए सीता जी के दुख से तो हनुमान जी कहा कि आप दुखी होने क्या बात कौन से निशाचर कोई ऐसे शक्तिशाली थोड़े जो बैठे बैठे हम यहाँ से दूर से बैठे बैठे उनके लिए दुखी होते रहे और हाँ हाँ करते रहे कि अभी निशाचर ले गया तो हम क्या कर सकते हैं बड़ा बड़ा उसके काम हो गया अरे कुछ बात नहीं है उसमें क्या चलो अभी अभी महा करके रावण को आते हैं जी ऐसे हनुमान जी ने उत्साहित किया भगवान को घर की तरफ से तो बात प्रभु जात ध्यान की रिपु गीत आने भी की आने भी बने ले आएंगे तो सुन तो समान उपकारी अब भगवान जो है वो हो <clears throat> देखो हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं तो जो भगवान हनुमान जी ने ये कार्य किया <clears throat> उसकी सबकी प्रशंसा करते हैं ये एक विशेष प्रसंग है जिसको भी ध्यान रखना है और आगे इसका बहुत उत्तम फल भी है इस प्रसंग का सुनने का और समझने का शंकर जी कथा सुना रहे हैं याद रखना है पार्वती जी को कहते हैं <clears throat> क्या यहाँ से आगे क्या बात होती है कि सुन कपितो ही समान उपकारी कहते हैं कब हनुमान सुनो कि तुम्हारे समान उपकारी कोई जो है नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी कि तुम्हारे समान मनुष्यों में से देवताओं में से मुनियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जैसा तुम उपकारी हो ऐसा कोई दूसरा नहीं हो तो उपकार करना आसान बात नहीं है मनुष्य प्राय पशु का जीवन जीता है और अपने स्वास्थ्य में ही रह लगा रहता है वो यही चाहता है कि सब लोग मिलकर के कुछ हमारे उपकार कर दें कुछ हमारी भलाई कर दें कुछ हमको दे दें कुछ हमारी सहायता कर दें बस यही व्यक्ति सोचते रहते हैं ये व्यक्ति की दुर्बलता है जब व्यक्ति इस पशुता से ऊपर उठ करके थोड़ी मनुष्यता में आता है तो फिर उसको अपने आप के भीतर थोड़ी शक्ति लगती है सामर्थ्य प्राप्त होती है प्रसार कर सकता है तब वो उपकार और प्रत्युपकार करता है मनुष्य के स्तर पर आ तब वो दूसरे व्यक्ति की भी सहायता करता है और किस आशा में करता है कि दूसरा व्यक्ति भी हमारी सहायता करेगा ये मानवीय धर्म है ये पशु धर्म नहीं है ये मानवीय धर्म है जब मनुष्यता व्यक्ति भी आती है तब वो दूसरे की भी सहायता करता है दूसरे से सहायता लेता भी अगर दूसरे से सहायता ली है तो फिर उसके बदले में दूसरे की सहायता करेगा ये मानवता के अंदर आता है लेकिन मनुष्य जब देवत्व भाव को प्राप्त कर लेता है मनुष्यता से और ऊपर उठता है तब फिर व्यक्ति को दूसरे से सहायता नहीं लेता दूसरे की सहायता करते ही करता है और उसको सहायता की जरूरत भी नहीं पड़ती देखो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि परम सामर्थ्यमान है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो अन्य मनुष्यों की तरह सामर्थ्यमान अन्य में भी सामर्थ्य अपने भी सामर्थ्य एक दूसरे की सहायता कर ली और तीसरी कोटि का धन व्यक्ति है जो महादुर्बल है वो सहायता ही चाहता है अपनी सब सहायता चाहता है दूसरे का कुछ नहीं कर सकता ऐसे दुर्बल तीन कोटि के समाज में व्यक्ति होते जो ज्ञानी है भक्त हैं जिनमें जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई वे मनुष्यता से भी ऊपर उठ करके महामानव या देवत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति व्यक्ति ही ऐसा उपकार दूसरों का करते हैं कि उसके बदले में कुछ चाहते नहीं उत्तरकांड में अयोध्या वासी भगवान राम से कहते हैं कि हेतु रहित दुत उपकारी तुम तुम्हार सेवक ऐश्वरारी हे भगवान संसार में हेतु रहित उपकार करने वाले हेतु रहित माने बिना उसके प्रत्युपकार चाहते हुए बदला के चाहते हुए बिना दूसरे का उपकार करने वाले संसार में दो ही हैं तुम और तुम्हारे सेवक हे ऐश्वरारी एक तो आप हैं या फिर आपके भक्त तो भक्त तो मनुष्य से भी ऊपर उठ करके देवत्व भाव को प्राप्त होकर के उससे भी ऊपर हो जाता तो भगवान का कहना यह है कि शरीरधारी मनुष्य जब होता है तो एक सीमा में आ जाता है और देहाभिमान के कारण से व्यक्ति में शुद्धता आ जाती है और वो दूसरों लोगों से तो सहायता मांगता है लेकिन स्वयं सहायता किसी की कर नहीं सकता इसलिए कहते हैं कि देखो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे सुर हो ये सब तनधारी मान तनधारी मैं शरीरधारी और शरीराभिमानी व्यक्ति जो शरीराभिमानी व्यक्ति जब तक व्यक्ति है तब तक ये दूसरे का उपकार करने में समर्थ नहीं है सबकी अपनी अपनी समस्या है इस प्रकार लेकिन ये जब व्यक्ति देह छोड़ करके ऊपर उठे जीव भाव में आ गए आत्मभाव में आ गए परमात्म भाव में आ गए तब व्यक्ति में सामर्थ्य जागृत होती है और फिर वो दूसरे की सहायता कर सकता है ये अपने आप अपने भीतर परीक्षा करनी चाहिए देखेंगे हम जहाँ कहाँ घूमते हैं प्राया और देखते ये सोचा करते कौन क्या हमको दे दे कहाँ क्या हमें मिल जाए क्या हम मांग लें कौन क्या दे दे क्या हमारे लिए कोई कर दे बस इसी प्रकार के लोग की चश्मा लगाए जगह जगह घूमते रहते हैं बस यही प्रतीक्षा करते हैं ये मन में नहीं आता कि कौन दुखी है किसको सहायता की आवश्यकता है किसको हम क्या कर दें तो ऐसा दुनिया नहीं दिखाई देता दुखी दिखाई देता है दुखी कैसे तो रहते हम क्या करेंगे हम कुछ नहीं करते बस ये भावना दुर्बल व्यक्तियों की रहती है इसलिए आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है कभी कोई कहते हैं कि आध्यात्मिक और धर्म व्यक्ति को दुर्बल बनाता है <coughs> ऐसे व्यक्तियों की मूल मति है उनकी उल्टी बुद्धि माया ने उनकी बुद्धि को घेर लिया और उनको उल्टा ही सोचता है वे तो संसारी व्यक्ति ये समझते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति तो समझदार व्यक्ति चालाक व्यक्ति वो है बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो सबको धोखाधड़ी करके अपना मतलब सिद्ध कर ले उससे ज्यादा महान कोई व्यक्ति नहीं और आध्यात्मिक दृष्टि से महामूर्खता दुर्बलता का लक्षण इसलिए कहते हैं कि देखो संसार में कहते हैं कि अब हनुमान जी ने इस प्रकार का उपकार का कार्य किया वहां तक गए जनता में घुसे अपने साथियों के बीच में गए खतरे में पड़े सीता जी का पता लगा करके लाए इतना सब कष्ट हनुमान जी ने किया तो ये बड़ा उपकार का काम हुआ अब उपकार का काम भगवान के लिए समझो क्या सीता जी के लिए समझो अब सीता जी दुख में है तो उनके सीता जी को उनके दुख के दूर करने के लिए हनुमान जी बार बार कहते नहीं है चलिए तो कहते देख चलिए प्रभु आनिए भुजबल बल फल जीत अब सीधे आप चलिए और सीता जी को छात्रों को मार करके ले आइए चल करके ये बार बार हनुमान जी कहते हैं तो इसके माने हनुमान जी के प्रति सीता जी को तो मुक्त कराने के लिए बड़ा उनके मन में भाव है और वो हो उपकार की बात उनके प्रति सीता जी के प्रति भी उपकार का भाव है इनके हनुमान जी के हृदय में है तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे जैसा उपकारी व्यक्ति कहाँ दुनिया में होगा तो तो समान उपकारी नहीं तो सुरो नर मुनि तन भारी उसके उपकार में तुम क्या क्या कर सकते तुम्हारे इसके बदले में तुम्हें क्या करेगा कोई तुम्हारे जैसा उपकारी कोई व्यक्ति नहीं है कहते हैं प्रति उपकार करूँ का तोरा सन्मुख हुई न सकत मन मोरा और भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारा प्रति उपकार कोई करे तो कैसे करे देखो प्रत्युपकार कब होता है जब उपकार कब होता है जब कोई व्यक्ति संकट में पड़े तब उसकी सहायता करो तो उपकार हो और यदि कोई व्यक्ति संकट में पड़े ही नहीं और उसको संकट आने वाला हो ही नहीं तो उपकार कैसे करोगे उसका नहीं कर सकते उसका उपकार तो भगवान को भी लगा कि हनुमान जी तो ऐसे भक्त हैं ऐसे ज्ञानी हैं ऐसे सेवक हैं ऐसे उपकारी हैं कि इनके जीवन में तो कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता और संकट नहीं आ सकता तो फिर इनका उपकार कैसे किया जाए समाज में देखते हैं कि देखो कि जैसे किसी एक परिवार है और दूसरा एक दूसरा एक मित्र परिवार और है तो एक परिवार में जब संकट पड़ा कोई बीमार पड़ा तो फिर दूसरे परिवार के लोग जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए भाई कहो तो हम तुम्हारी सहायता करें दवा ला दें अस्पताल ले चले खाने वाने की जो चीज बनाने को वो बना दें कर दें तो इस प्रकार से सहायता करने के लिए दूसरे व्यक्ति आते हैं तो जब भाई बीमार कोई पड़ेगा तो इस प्रकार का संकट आएगा तब तो सहायता करने आएगा और अगर कोई उसके घर में कोई संकट इस बात की बात ही नहीं है कोई बीमारी नहीं है कोई इस प्रकार का कोई अभाव नहीं कोई कमी नहीं है कोई कुछ नहीं है तो कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या हाल चालते सब ठीक तो कहीं हम आपकी क्या सेवा करें कि कोई सेवा जरूर तो आप कैसे उपकार करें अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे का उपकार किसी कारण संकट में किया है अब वो चाहता है अपने आप को ऋणी समझ रहा है कि देखो इसने हमारा उपकार इतना किया है अब हम ऋणी हैं इसके हाँ, अब हमें इसका प्रत्युपकार करना चाहिए बदले में करें तो जो प्रत्युपकार करना चाहता है वो प्रतीक्षा करता है इसको कब संकट पड़े और कब हम इसकी सहायता करें तो ऐसे ही भगवान सोचते हैं कि हनुमान को क्या संकट है या क्या कमी है जिसको कि हम दूर करने के लिए इनका प्रत्युपकार करते हैं तो उनको कोई ऐसी बात नहीं मिलती जब बात नहीं मिलती तो भगवान को लगता है कि जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम रेडी बने रहेंगे इनसे अब देखो कैसे किस प्रकार की स्थिति है ये तो कहते प्रति उपकार करो का तोरा प्रति उपकार करो उपकार के बदले में उपकार करना प्रति उपकार है तो, तो प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख हुई न सकते मन मोरा और जब कोई जिसके ऊपर ऋण चढ़ा होगा सिर के ऊपर पृथ्वी के सामने जिसने ऋण दिया है या जिसने पहले सहायता की है उसके सामने वो आप नहीं मिला सकता वो तो ये समझेगा कि देखो इसने हमारी सहायता की तो अब हम इसके इसके हम हीन है कम है ये श्रेष्ठ है तो आंख नहीं मिला सकता तो इसलिए भगवान कहते सन्मुख हुई नहीं सकते मन मोरा हमारा मन तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता कि मैंने हम जब तक ऋण है तब तक हमारा सिर नीचे ही रहेगा तो नहीं महान ये लगता है तो कहते हैं सुन सत तो ही उड़ने में नही इसलिए भगवान साफ साफ कहते हैं कि उपकार प्रत्युपकार हम तुम्हारे लिए कोई करते दिखाई नहीं देता तो क्या करें इसलिए हम तुम्हारे ऋणी ही रहेंगे सुन सत तो ही उड़ने ना ही तुमसे उड़न होना तो मैंने जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है उस ऋण को हम दूर करना चाहें उतारना चाहें या प्रत्युपकार करना चाहें तो वह हमें करते हुए नहीं दिखाई देता है एक बात देखो एक शब्द और यहाँ पर आ गया कहते सुन सुख तो ही ऋण मैं ना ही अब भगवान राम जो हनुमान जी के पुत्र करके कहते सुत ये बात तब आई जबकि सीता जी ने हनुमान सीता जी सीता जी के सामने हनुमान जी जब गए माता माता बार बार कहते रहे तो अंत में जब भगवान हनुमान जी चलने लगे तब भी सीता जी ने उनको कहा कि हे पुत्र तुम भी अब जा रहे हो तो हमारा जीवन कैसे रहेगा तो वहाँ पुत्र करके सीता जी ने हनुमान जी को संबोधन कर दिया तो जब वहां संबोधन कर दिया तो आप भगवान राम ने भी हनुमान जी को पुत्र करके मान लिया इसलिए अभी तक कहीं जितना भी प्रसंग आया है भगवान राम ने हनुमान जी को पुत्र करके नहीं माना यहाँ पुत्र मान लिया कहते सुनो सक तो ही उड़न मैं ना ही कि पुत्र सुनो मैं तुमसे कभी उड़न नहीं हो सकता तुमने बहुत उपकार का कार्य किया है देखे उनकर विचार मन माही अपने मन में खुद विचार करके हमने देख लिया मन में क्या विचारते रहे क्या इसके बदले में हनुमान को हम क्या दें क्या करें तो देखते हैं हनुमान जी कुछ देने लायक नहीं बात मिलती तो जो है ऋण चाह हुआ है भगवान तो देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक कृतज्ञ होते हैं और एक होते हैं कृतज्ञ हाँ? तो दूसरे से सहायता तो ले ले और भूल जाए कभी उसकी सहायता करने का विचार न करे हा? उसे कहते हैं कृतज्ञ संस्कृत के शब्द हैं हिंदी में प्रयोग होते हैं कृतज्ञ है वो और जब दूसरा कोई व्यक्ति अपनी सहायता करे तो उसके लिए अपने आप को ऋणी समझे तो उसको कहते हैं कृतज्ञ कहते भाई आपने बड़ी हमारी सहायता की हम आपके ऋणी है ये कृतज्ञता व्यक्त करना है तो भगवान राम इस प्रकार के हनुमान जी के सामने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और अपने आप को ऋणी दिखा रहे हैं तो ये कृतज्ञता जो है ये तो गुण है और कृतज्ञता ये दोष है दुर्गुण है ये सब क्या दोष है क्या दुर्गुण है ये साफ जगह जगह पर बताते रहते हैं इनको सीखे इनको समझे इनको क्या गुण है जो गुण है उनका संग्रह करें जो दुर्गुण है उनका त्याग करें तो ये कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरे मैं नाही देख कर विचार मन माही पुनि पुनि कपि चित्र सुरत्वाता हनुम भगवान श्री राम जी बार बार हनुमान जी की तरफ देखते हैं वाता है देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान वे बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं सुर का वैसे तो इंद्रादि देवता सुर है ही है उनका नाम लेते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी सुर है देवता है इनको तो बोलते ही रहते हैं लेकिन सुर के मन जितने सदगुण हैं वो भी सुर हैं दैवी संपत्ति जितनी है सदगुण है वो भी देवता कहलाते हैं तो भगवान सुर त्वाता मैंने सदगुणों की रक्षा करने वाले हैं तो ये भी एक कृतज्ञता एक सदगुण है तो इस समय भगवान कृतज्ञता रूपी सदगुण की रक्षा कर रहे हैं हाँ? इसलिए श्रुत रहता है कहते हैं पुण्य पुण्य कपिल चितव श्रुत राता भगवान राम जो है बार बार हनुमान जी की तरफ <clears throat> इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कोई ऋणी व्यक्ति देखता हो ऋणदाता की ओर कृतज्ञता के साथ देख रहा हो ऐसे करके भगवान देते हैं लोचन नीर तुल गाता उनके नेत्रों में अश्रु आ गए हैं शरीर में पुलकावली हो रही है ऐसे भगवान जो है बार बार हनुमान जी की ओर देते हैं देख रहे हैं तो देखो भगवान का हनुमान जी की ओर देखना ये भी कहना एक सार्थक बात है या प्रासंगिक बात है ये कहना आवश्यक आई ही है कहते हैं कि देखो संसार में बड़े से बड़े देवता लोग जो है वो भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं मामा मामा लोक पंकज मोचन हे पंकज लोचन हे पंकज लोचन भगवान एक बात हमारी ऊपर भी दृष्टि डाली है माम अब लोग है हे भगवान हमको भी देखिए सब लोग चाहते हैं कि कोई भगवान कभी हमारे ऊपर भी दृष्टि डाले तो भगवान के दृष्टि पढ़ने के माने है कि उसका उद्धार हो गया उसके सारे संकट दूर हो गए और उसकी जो समस्याएं समाप्त हो गई तो सब लोग भगवान से चाहते हैं कि भगवान कभी हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालें दृष्टि डालने मैंने कृपा करना और और लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालो लेकिन यहाँ भगवान राम बिना हनुमान जी के कहे स्वयं हनुमान जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो हनुमान जी के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हाँ तो कहते हैं कि पुण्य पुण्य तपही तो चितव स्वरूपाता बार बार हनुमान जी को तप दे रहे हैं देख रहे हैं और कृतज्ञता के साथ देख रहे हैं तो कहते हैं सुन प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्ष हनुमंत हनुमान जी ने जब देखा कि भगवान को कैसा भाव है और कैसे बोल रहे हैं सुन प्रभु बचन भगवान की बात हनुमान जी ने सुनी कि कैसी कृतज्ञता की बातें कर रहे हैं कैसे प्रत्युपकार नहीं कर पा रहे हैं ऋणी होने के कैसा भाव व्यक्त कर रहे हैं और बिलो के मुख और भगवान राम के मुख की तरफ भी देखा तो उनकी दृष्टि देखा हनुमान जी ने हमारे ऊपर पड़ रही है ये भी देखा और भगवान के मुख से ये भी पता लगा कि वो अपने आप को ऋणी मान रहे हैं कृतज्ञ मान रहे हैं अपने आप को कम मान रहे हैं और अपने से भी ज्यादा हमको अपना स्थान दे रहे हैं हमको बहुत बड़ा बता रहे हैं माने हम तो ऋण देने वाले हो गए और भगवान ऋण लेने वाले हो गए तो स्वयं अपने आप को छोटा अनुभव कर रहे हैं और हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा हम हो गए पर ये ऐसी स्थिति भगवान की देखी उनके मुख से लग रही है हनुमान जी को तो लगा कि हमें हम भगवान जो कुछ कह रहे हैं ये कोई भगवान का नाटक नहीं है भगवान का मुख देखा तो उनके भाव से ही पता लगा कि भगवान ऐसी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं तो बिलो के मुख और गात हर से हनुमंत हनुमान जी का शरीर जो वो पुलकित होता हर्षित होकर हनुमान जी ने कहा कि